उस रात जब विक्रांत मछली से भरी हुई कई सारी टोकरियां लेकर वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां पर बॉर्न फायर का इंतजाम किया गया विक्रांत की तरफ से सभी पुलिस वालों को एक साथ बॉर्न फायर पर आने का इनविटेशन दिया गया था साथ में पुलिस की तरफ से कुक का भी इंतजाम किया गया था जो कि विक्रांत द्वारा लाई गई फिश को रोस्ट कर रहा था बाकी सभी पुलिस वाले बीच में आग जलाकर राउंड में बैठे हुए थे सभी के हाथ में बियर की एक एक केन भी थी सर आपको उस लड़की ने अनाड़ी समझकर गलत मछली पकड़ा दिया ये सब मछली जल्दी पकड़ी नहीं है और इसका स्मेल भी ठीक नहीं है इंस्पेक्टर अशोक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आप शायद कभी मछली खरीदने को नहीं गया ना इस वजह से नहीं पता होगा आपको और वो लड़की आपको बेवकूफ बना दिया अरे इसमें बेवकूफ बनाने की क्या बात है मैंने तो बस ऐसे ही उससे सब खरीद लिया मैंने उससे प्रॉमिस किया था ना खरीदने का विक्रांत ने बियर के कैन से एक सिप बियर लेते हुए कहा अच्छा अच्छा कोई नहीं आपको फिश पसंद है ना बीच में ही पुलिस ऑफिसर पी के मधु ने बोलते हुए कहा एक बार ये केस सॉल्व हो जाए इसके बाद मैं विक्रांत जी को साउथ की बेस्ट फिश खिलाऊंगा oh thank you ji Vikrant ने बियर की कैन को थम्स अप की तरह उठाकर पी के मधु को दिखाते हुए कहा ओह तभी अशोकन ने फिर कुछ याद करते हुए कहा अच्छा सर आप उस लड़की को कुछ दिखा रहे थे ना फोन में कुछ दिखा रहे थे ना सो उसने कुछ बताया क्या नहीं उसे कुछ पता नहीं था वो भला क्या बताएगी विक्रांत ने फिर से एक सिप बियर पीते हुए कहा अच्छा आप क्यों पूछ रहे हैं आप उस लड़की को जानते हैं क्या नहीं नहीं नहीं सर इंस्पेक्टर अशोक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अरे एक्चुअली ऐसा है कि मेरा लोकल एरिया यही है तो मैं अक्सर इधर के मार्केट वगैरह में चक्कर लगाता रहता हूँ तो ऐसे ही इधर उधर आते जाते कभी उस लड़की को देखी होगी इधर तो अब मुझे सब चेहरे जाने पहचाने ही लगते हैं सबको जानता हूँ <laughs> और अगर आपको उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइए मैं तुरंत अरेंज करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है अरे नहीं नहीं छोड़ो उसे विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा हाँ ये बताओ यहाँ पर वो लोग आपस में क्यों लड़ रहे थे अरे वो एक्चुअली <laughs> क्या थी कि वो जो दूसरा ग्रुप वाला था ना जिसके हाथ से आपने चाकू छीना था उसके ग्रुप के बोर्ड से दूसरे ग्रुप का नेट कट गया था इस वजह से उधर दोनों में लड़ाई हो रही थी इन लोगों का बहुत पुराना लड़ाई है पिछले कई सालों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं अक्सर ओ नेट मतलब मछली पकड़ने का जाल विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा हाँ सर वही फिश पकड़ने का जाल इधर सर ये मछुआरे लोग तीन चीज के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं पहले तो फिश पकड़ने का नेट फिर फिश काटने का चाकू और बोट जिससे ये फिश पकड़ते हैं ये तीन चीज अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर ये लोग जान देने और लेने पर उतारू हो जाते हैं अशोकन ने विक्रांत को समझाते हुए और इन तीनों चीजों के अलावा कुछ और भी ले लो तो ये कुछ नहीं कहते चाहे आप इनका वाइफ को भी उठा ले जाओगे तो भी ये लोग कुछ नहीं बोलने वाला <laughs> इंस्पेक्टर अशोकन की बातें सुनने के बाद वहाँ बैठे सभी लोगों की हंसी छूट पड़ी विक्रांत को थोड़ी हैरत भी हुई कि ये लोग इतनी छोटी छोटी सी चीज को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं और जान लेने देने तक भी उतर आते हैं अब जाकर विक्रांत को यह समझ में आया कि आखिर वो लड़की अपनी चाकू के लिए इतना परेशान क्यों हो रही थी विक्रांत जी मुझे अशोकन ने बताया आपने उधर उन लोगों को अरेस्ट करवाने में पुलिस की काफी मदद की उसके लिए आपको thank you senior police officer P K Madhu ने विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा वैसे तो विक्रांत ने उन लोगों को सिर्फ अपने काम के लिए मारा था उसका तो पुलिस की मदद करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था ऊपर से विक्रांत ने जिस तरह से उन लोगों को पीटा था उससे पुलिस का काम आसान नहीं हुआ था बल्कि उससे पुलिस की दिक्कत बढ़ गई थी अब पुलिस को उन लोगों के पीटे जाने की भी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी हालांकि अब चूंकि विक्रांत की तारीफ हो रही थी ऐसी सिचुएशन में वो भला कैसे उन्हें रोक सकता था अपनी तारीफ सुनकर विक्रांत काफी खुश हुआ और उसने मुस्कुराते हुए सीनियर ऑफिसर पी के मधु की तरफ देखते हुए कहा थैंक यू सर मैं तो बस वहाँ किसी और काम से गया था फिर जब पुलिस वालों को स्ट्रगल करते देखा तो सोचा कि इन लोगों की मदद कर दूं। <laughs> बड़ी बेशर्मी के साथ विक्रांत ने अपनी तारीफ करते हुए कहा फिर उसने बियर का आखिरी घूट घटक कर बोतल खाली कर दिया अब तक विक्रांत पूरे फॉर्म में आ चुका था और उसको खुद की तारीफ झोंकने का मौका भी मिल चुका था सो उसने अपने एक्शन की दास्तान शुरू कर दिया उधर अब तक उन लोगों का डिनर रेडी हो चुका था सब लोगों ने एक साथ वहीं रेत पर ही बैठकर खाना खाया पिछले दिन अनुष्का ने विक्रांत को फोन करके बताया था कि उसने पूरे दिन भटक कर उस गार्ड और उसकी पत्नी के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी लेकिन उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका था ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइट हाउस को बंद हुए कई साल हो चुके थे उसके बंद होने के बाद लाइट हाउस को चलाने वाली संस्था भी बंद हो चुकी थी ऐसे में वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी उन लोगों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से ही मिल पा रही थी ये पता चला था कि लाइट हाउस का गार्ड त्रिवेंद्रम के ही किसी गांव का रहने वाला था लेकिन दिक्कत ये थी कि वो आदमी जिस गांव में रहता था उसके बीचों बीच ये हाईवे निकली थी ऐसे में उस पूरे गांव को डिस्प्लेस किया गया था डिस्प्लेसमेंट के बाद गांव का कौन सा घर कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं ऐसे में उसके घर वालों तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हालांकि वो जो स्ट्रेंजर था वजाहत अली उसके घर वालों के बारे में अनुष्का ने बहुत जल्दी पता लगा लिया था क्योंकि वजाहत अली स्क्रिप्ट राइटर नौशाद अली का चाचा था ऐसे में उसकी फैमिली तक पहुंचने में अनुष्का को कोई दिक्कत नहीं हुई नौशाद की फैमिली लगातार पुलिस के कांटेक्ट में थी क्योंकि वो लोग नौशाद की डेड बॉडी का हैंड ओवर लेने का प्रयास कर रहे थे अनुष्का अच्छे से जानती थी कि नौशाद की फैमिली में कौन ऐसा शख्स है जो कि वजाहत के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन दे सकता है नौशाद की माँ की हालत बहुत खराब थी नौशाद की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था और वो बार बार बेहोश हुए जा रही थी हालांकि जब वो थोड़ी स्टेबल हुई तब अनुष्का ने बड़ी चालाकी से उन्हें समझाते हुए वजाहत के बारे में सवाल करना शुरू किया उन्हें अनुष्का को बताया था कि वजाहत ऐसा शख्स था ही नहीं जो किसी का खून कर सके आज भी उसका यही विश्वास ही है कि वजाहत को कत्ल के गलत इल्जाम में फंसाया गया था उन्होंने बताया कि जब वजाहत को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके ऊपर कत्ल के इल्जाम का केस चलाया जाने लगा तो उसकी फैमिली ने वजाहत को बचाने का पूरा प्रयास किया था उन लोगों ने वजाहत का केस लड़ने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे शहर का सबसे बड़ा लॉयर उन्होंने वजाहत के लिए कोर्ट में खड़ा कर दिया था तभी वजाहत की फांसी की सजा टल गई थी उसके बाद भी वजाहत को जेल से बाहर लाने के लिए वो लोग लड़ते रहे लोगों ने लाइट हाउस के गार्ड की पत्नी को भी पुलिस से सच्ची गवाही देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वासु फिर भी नहीं मानी वजाहत लगभग आठ साल तक जेल में बंद पड़ा रहा और फिर बाद में किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गयी वजाहत की मौत के बाद उसकी फैमिली वालों ने केस लड़ना बंद कर दिया उन लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर उसको भुलाना शुरू कर दिया अनुष्का द्वारा ये सब बातें सुनने के बाद विक्रांत काफी मायूस हो गया उसे वजाहत और नौशाद के बारे में सोचकर थोड़ा दुख हो रहा था पहले वजाहत की जिंदगी लाइट हाउस पर जाने की वजह से खराब हुई थी और फिर अब नौशाद की भी मौत लाइट हाउस पर जाने की वजह से ही खराब हुई है समझ में नहीं आ रहा था कि नियति का खेल या फिर वाकई में इन दोनों केसेस का लाइट हाउस से कोई डीप कनेक्शन है अनुष्का की सारी बातें सुनने के बाद विक्रांत ने उसे होटल रूम में जाकर आराम करने के लिए कहा इसके साथ ही उसे अगले दिन आराम करने के लिए कह दिया गया था इसके साथ ही विक्रांत ने अनुष्का को उस मछली बेचने वाली लड़की के बारे में बताते हुए उसके बारे में पता लगाने के लिए भी कह दिया था भले ही उसका डुप्लीकेट टास्क हमेशा केस रिलेटेड नहीं होता है लेकिन फिर भी विक्रांत किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था अनुष्का से बात करने के बाद विक्रांत सभी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट करने लग गया लेकिन तभी वहां पर अचानक से समन्ता पहुंच गई समन्ता सीधे ही विक्रांत के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने एक सिगरेट निकाल कर जलाते हुए कहा आप लोग कब तक मुझे वहाँ और रोक के रखेंगे मुझे घर जाना है अब अभी तक विक्रांत ने केस के इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से समन्ता और कुक बहादुर को पुलिस कस्टडी में ही ले रखा था विक्रांत ने उन दोनों की रिहाई को तब तक के लिए होल्डिंग पोजीशन में रख डाला था जब तक केस को अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचा देता वैसे जनरली तो हम सस्पेक्ट को 24 घंटे तक ही कस्टडी में रखते हैं लेकिन ये केस स्पेशल है और आप लोग भी स्पेशल हैं तो आई थिंक छह दिन तक कम से कम आप लोगों को यहाँ रहना होगा विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर कुछ नोट करते हुए कहा छह दिन समंता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा हाँ छह दिन विक्रांत ने अब मारकर नीचे रख दिया और फिर समन्ता की तरफ देखते हुए कहा वैसे अगर केस जल्दी सॉल्व हो गया तो फिर आप लोगों को जल्दी ही छोड़ा जा सकता है अच्छा तो फिर ये भी बता दीजिए कि केस कब तक सॉल्व हो जाएगा समन्ता ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा दया कर कुछ पता चला आप लोगों को वो जिंदा है कि नहीं क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दयाकर की मौत हो चुकी है विक्रांत ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा हम्म मुझे कुछ नहीं लगता मैं तो बस गैस कर रही थी समन्ता ने सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाते हुए कहा अच्छा हाँ मुझे आपको कुछ बताना था ओ विक्रांत ने उत्सुकता से भरे लहजे में कहा क्या क्या बताना है बताओ शुरू में तो मुझे लग रहा था कि प्रसाद मुझसे फालतू की बकवास कर रहा है समन्ता ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद वो सच बोल रहा था समंता ने फिर से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए गोल्ड रिंग बना दिया क्या क्या कह रहा था वो विक्रांत ने काफी उत्सुक होते हुए सवाल किया समंता ने चारों तरफ ध्यान से देखा और फिर विक्रांत के कान में धीरे से कहा मर्डर वाली रात प्रसाद मुझे खींचकर एक कोने में ले गया था और फिर उसने मुझसे कहा कि उसने उस रात को यहाँ पर किसी अजनबी को देखा था और वो कोई औरत थी